an talk Prem Darshan number one और आदमी की जिंदगी रोज बुरी से बुरी लेकिन लोग कुछ इस तरह कहते हैं जैसे अंधेरा आज ही आ गया हो अंधेरा सदा से है और ऐसा नहीं है कि आदमी आज बुरा हो गया है आदमी सदा से ही बुरा रहा है लेकिन आज की बुराई दिखाई पड़ती है पिछली बुराइयां छुप जाती हैं खो जाती हैं और दिखाई नहीं पड़ती और इतिहास के साथ एक बुनियादी भूल हो जाती है और वो भूल ये है कि अतीत के तो अच्छे लोग याद रह जाते हैं और आज के सिर्फ बुरे लोग दिखाई पड़ते हैं उनके बीच तुलना करने से कठिनाई हो जाती है और राम याद है बुद्ध याद है महावीर याद है कृष्ण याद है उस जमाने का साधारण आदमी कौन है उसका हमें कुछ भी पता नहीं आज से 2000 साल बाद न मेरा किसी को याद होगी न आपकी किसी को याद होगी एक आदमी हमारे बीच थे गांधी उन्हें लोग याद रखेंगे 2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी का युग बड़ा धार्मिक युग रहा होगा अहिंसा का प्रेम का सत्य का झूठी होगी उनकी धारणा गलत होगा उनका ख्याल गांधी हमारे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है गांधी अकेले हैं हम उन जैसे नहीं ठीक उनसे विपरीत हैं लेकिन वो याद रह जाएंगे और हमारे युग को उनका नाम दिया जाएगा जो कि सरासर झूठ होगा गांधी युग कहा जाएगा युग हम बनाते हैं गांधी नहीं हम भूल जाएंगे और गांधी का युग हो जाएगा ऐसा ही हुआ है राम के साथ बुद्ध के साथ कृष्ण के साथ महावीर के साथ आज हम कहते हैं महावीर के जमाने के लोग कितने अच्छे रहे होंगे महावीर के कारण हम ऐसा कहते हैं लेकिन महावीर प्रतिनिधि नहीं है महावीर अकेले हैं और इस बात को थोड़ा सोच लेना जरूरी है ताकि हम आज की बीमारी आज की ही नहीं है सदा की है ये समझ पाए अगर बीमारी सदा की है और हमने समझा कि आज की है तो हम इलाज कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उस बीमारी की जड़ों में ही नहीं उतर सकेंगे हम समझेंगे बीमारी सामयिक है जबकि बीमारी सनातन है बीमारी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना आदमी है और हम समझेंगे आज का युग ही खराब है तो हम जो तरकीबें सोचेंगे बदलने की वो काम नहीं करेंगी क्योंकि हमारा निदान ही गलत होगा बीमारी कितनी पुरानी है बीमारी मिटाने के लिए पहली बात है जो जान लेनी चाहिए लेकिन भूल हुई है अतीत के संबंध में निरंतर भूल हो जाती है उसके कारण है पहला कारण तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जमाने के चमकते हुए लोग याद रह जाते और हम आज के अपने पड़ोसी से उनकी तुलना करते हैं तो बहुत कठिनाई हो जाती है उस जमाने का साधारण आदमी बिल्कुल भूल जाता है साधारण आदमी आज ही जैसा था जरा भी फर्क नहीं जितनी चोरी आज है जितनी बेईमानी आज है जितना कपट है उतना ही तब भी था जरा भी कम नहीं और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा कुछ मतलब है बुद्ध सुबह से उठते हैं और सांझ तक लोगों को समझाते हैं चोरी मत करो झूठ मत बोलो दूसरे की स्त्री को लेकर मत भाग जाओ या तो बुद्ध का दिमाग खराब होगा कि भले लोगों को ऐसी बातें समझा रहे हैं जो ये काम करते ही नहीं या लोग ऐसे रहे होंगे चालीस साल तक अनवर सुबह से सांझ तक बुद्ध यही बातें समझा रहे हैं किनको समझा रहे होंगे जिनको समझा रहे हैं वो लोग हमसे भिन्न नहीं हो सकते क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं हमारे लिए आज भी काम की मालूम पड़ती हैं वो हमारे जैसे लोग रहे होंगे जिनके लिए वो काम की थी उसमें बहुत भेद नहीं हो सकता इन सारे बड़े पुरुषों को हम इतना आदर देते हैं उसका भी यही कारण है सिर्फ आदर उनको दिया जाता है जो अत्यंत न्यून होते हैं अल्प होते हैं उन्हें आदर नहीं दिया जाता जो बहुत होते हैं अगर दुनिया में सज्जन बहुत हो जाएंगे सज्जन को आदर मिलना बंद हो जाएगा अगर दुनिया में महात्मा बहुत हो जाएंगे फिर महात्मा को कोई पूछेगा नहीं असल में महात्मा को पूछने के लिए चोरों की मौजूदगी बहुत जरूरी है जो पूछते हैं जो आदर देते हैं वे विपरीत होते हैं इसलिए पूछते हैं इसलिए आदर देते हैं स्कूल में एक शिक्षक काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखता है सफेद दीवार पर भी लिख सकता है लिख तो जाएगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा सफेद खड़िया से काले तख्ते पर लिखे तो ही दिखाई पड़ता है अच्छा आदमी बुरे समाज के काले तख्ते पर ही दिखाई पड़ता है नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा महावीर बुद्ध और कृष्ण और राम जो हमें दिखाई पड़ते हैं हजारों साल के बाद वो समाज की अंधेरी रात उसके ऊपर चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं अंधेरी रात में तारे ज्यादा चमकते दिन में तारे खो नहीं जाते दिन में तारे उतरे हो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि सफेदी में तारा कैसे दिखाई पड़े खो जाता है जिस दिन दुनिया अच्छी होगी सबसे पहले महात्मा खो जाएंगे वो दिखाई नहीं पड़ेंगे जब तक दुनिया बुरी है तब तक महात्मा दिखाई पड़ता रहेगा इसलिए महात्मा के तो हित में है कि दुनिया बुरी रहे समझाता है बुराई को मिटाता है लेकिन उसका अस्तित्व तो रह सकता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा अतीत में हमने दस पांच बड़े नामों को याद रख लिया है उसका कारण है कि हमने दस पांच आदमी पैदा किए बाकी सारी आदमियत बांझ थी उससे कुछ पैदा नहीं हुआ आदमी सदा से ऐसा ही है इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि आज ही अंधेरा हो गया है और आज ही धर्म खो गया है और आज ही लोग परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है कि कलयुग की वजह से सब कुछ हो रहा है सतयुग में सब अच्छा था जैसा आदमी आज है वैसा सदा था इसलिए बीमारी से लड़ना बहुत गहरे पड़ेगा कोई सोचता हो कि अंग्रेजी की शिक्षा के कारण लोग बिगड़ गए हैं तो गलत सोचता है जब अंग्रेजी का पता न था तब भी लोग ऐसे थे कोई सोचता हो कि फिल्मों के कारण लोग बिगड़ रहे हैं तो गलत सोचता है क्योंकि फिल्म जब न थी तब भी आदमी ऐसा ही था इसलिए मैं कहता हूं कि बीमारी की गहराई और दूरी और लंबाई समझ लेनी जरूरी नहीं तो लोग ऐसे उपचार बताते हैं जिनको अगर हम हल भी कर लें अगर सारे हिंदुस्तान के सिनेमाग्रह बंद कर दिए जाएं तो आदमी में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि डर है कि आदमी शायद और बुरा हो जाए डर इसलिए है कि सिनेमा में बुराई को देखकर खुद बुरा करने का मन थोड़ा कम हो जाता है राहत मिल जाती रास्ते पर अगर दो आदमी लड़ रहे हों तो हम हजार काम छोड़ के वहां रुक जाते हैं देख लेते हैं क्या हो रहा है ऐसे ऊपर से कहते हैं कि भाई लड़ो मत लेकिन भीतर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ हो ही जाए और अगर दोनों लड़ने वाले मान लें कि आप सब कहते हैं तो नहीं लड़ते जाते तो हम उदास वापस लौटेंगे लेकिन खून टपक जाए पत्थर चल जाए छुरी बुक जाए तो हम बड़ा बुरा कहते हुए लो, लौटेंगे कि लोग बड़े बुरे हो गए क्या हो रहा है ये लेकिन हमारी आंखों में चमक होगी चेहरे पर खुशी होगी भीतर ऐसा होगा कि कुछ देखा कुछ हुआ वो जो दो आदमी लड़ते हैं उनको लड़ते देखकर हमारी लड़ने की वृत्ति भी थोड़ी निकलती है इसके तो प्रमाण उपलब्ध हुए पहले महायुद्ध जब हुआ तो बड़ी हैरानी हुई दुनिया के विचारशील लोगों को कि युद्ध जब तक चला तब तक दुनिया में चोरियां कम हुई हत्याएं कम हुई आत्महत्याएं कम हुई लोग पागल भी कम हुए संख्या कम हो गई बड़ी हैरानी की बात है चोरों को युद्ध से क्या लेना देना है और चोरों को अगर लेना देना भी हो तो पागल भी क्या देख के पागल होते हैं कि अभी युद्ध चल रहा है अभी पागल नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ समझ में नहीं पड़ सका दूसरे महायुद्ध में तो और घबराहट बढ़ गई क्योंकि दूसरे महायुद्ध में तो एकदम सारी दुनिया में पापों का अपराधों का हत्याओं का आत्महत्याओं का पागलों का मानसिक बीमारियों का सबका अनुपात नीचे गिर गया तब समझ सोच करना पड़ा तब पता चला कि कारण है कारण यह है कि जब सारा समाज सामूहिक रूप से पागल हो गया हो तो प्राइवेट पागल होने की कोई जरूरत नहीं जब सारी दुनिया में इतनी हत्याएं हो रही हैं तो मैं अलग से किसी को हत्या करने जाऊं इसमें कोई मतलब नहीं है सुबह अखबार पढ़ लेता हूं और राहत मिल जाती है रेडियो सुन लेता हूं और राहत मिल जाती है सिनेमा बंद कर देने से लोग अच्छे हो जाएंगे ऐसा अगर साधु संत समझाते हो तो उन साधु संतों को आदमी की बुराई का कुछ भी पता नहीं और कोई अगर समझाता हो कि अंग्रेजी की शिक्षा से और पश्चिम के संपर्क से आदमी बिगड़ गया है तो बिल्कुल ही गलत समझाता है सारी शिक्षा हम बंद कर दें और पश्चिम से सारा संबंध तोड़ दें और बैलगाड़ी की दुनिया में वापस लौट जाएं तो भी अच्छा नहीं हो जाएगा आदमी क्योंकि रोग बहुत गहरा है बैलगाड़ी के दिन थे तब भी आदमी ऐसा ही था लेकिन कुछ बातों में फर्क पड़ा है पहला तो फर्क ये पड़ा है सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि हमें सारी दुनिया की खबरें एक साथ मिलने लगी हैं जो पहले नहीं मिलती थी और ध्यान रहे चूंकि हमारा रस बुराई में है इसलिए बुराई की खबरें ही हमें मिल पाती हैं भलाई की खबरें नहीं मिल पाती अगर रास्ते पर मैं किसी को छुरा मार दूं तो भावनगर के अखबार खबर छापेंगे लेकिन रास्ते पे किसी गिरे को उठा लूं तो भावनगर के अखबारों में कोई खबर नहीं छपेगी दुनिया में भलाई अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी लेकिन उसकी कोई खबर नहीं क्योंकि भलाई को सुनने को पढ़ने को कोई उत्सुक नहीं है वो कभी भी नहीं आए जब भी दो आदमी मिलते हैं तो किसी की बुराई करते हैं अगर बुराई करने को आदमी ना हो तो बातचीत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता बातचीत ही नहीं हो पाती दस आदमी मिलते हैं तो पहले औपचारिक बातें होती हैं फिर किसी की बुराई शुरू हो जाती है दूसरे में बुरा खोज लेने से एक रस है और वो रस ये है कि जब हमें दूसरे में बुराई मिल जाती है तो हमें एक रस तो ये मिलता है कि हमें ये राहत मिल जाती है कि हम ही बुरे नहीं हैं और लोग भी बुरे और लोग और भी ज्यादा बुरे इसलिए हम चारों तरफ बुराई की खोज करते हैं ताकि हमारी बुराई की जो पीड़ा है वो जो कांटे की तरह चुपती है वो कम हो जाए जब मुझे ऐसा पता चले कि सभी लोग बीमार हैं तो फिर बीमारी इतनी दुखद नहीं रह जाती अगर मुझे पता चले गांव में सब लोग स्वस्थ नहीं अकेला बीमार हूं तो बीमारी से भी ज्यादा ये बात दुख देती है कि और सारे लोग स्वस्थ हैं मैं ही सिर्फ बीमार हूं लेकिन अगर पता चल जाए कि सारे लोग बीमार हैं तो तो फिर बीमारी का जो दंश है जो पीड़ा है वो कम हो जाती और अगर ये पता चल जाए कि मुझसे भी ज्यादा बीमार है तब अपनी बीमारी में भी स्वास्थ्य दिखाई पड़ने लगता है क्योंकि हम कम बीमार हैं मैंने सुना है एक यहूदी फकीर है लियमन उसने लिखा है कि मैं बहुत परेशान था सभी परेशान हैं उसी परेशानी से परेशानी ये थी कि बड़ा जीवन में दुख था किसके जीवन में सुख है लेकिन लियमन ने लिखा है कि मैं इसलिए और भी ज्यादा दुखी था कि दूसरे लोग सुखी मालूम होते थे रास्ते पे लोग हंसते हुए मिलते मैं किसी से पूछता कि कैसे हो तो वो कहता बहुत अच्छा सभी लोग कहते हैं लीबमैन सोचता कि मैं तो कभी भी उस हालत में नहीं हूं कि कह सकूं कि बहुत अच्छा सारी दुनिया सुख में है मैं ही सिर्फ एक दुख में हूं लोगों के चेहरे देख के बड़ी भूल पैदा हो जाती और हमें लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं और अपनी आत्मा दिखाई पड़ती है इसलिए तुलना हमेशा मुश्किल की होती है हम भीतर असलियत को देख लेते हैं और दूसरे आदमी का अभिनय दिखाई पड़ता है रास्ते पे लोग हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं पति पत्नी को रास्ते पे चलते देखें तो ऐसा लगता है स्वर्ग में रहते होंगे और अगर घर में कभी उनको पता ना हो और झांक लें तो पता चलेगा कि नरक की उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी एक चेहरे में जो हम बाहर से लगाए हुए हैं वो हमने वो भी हमने इसलिए लगाए हैं कि भीतर की हालतें ऐसी हैं कि कोई देख ले तो बड़ा अपमानजनक होगा इसलिए चेहरे लगा लिए उनसे हम बाहर काम चला लेते हैं घर लौट के असली आदमी हो जाते लेकिन मैंने देखा सब लोग हंसते हैं सब खुश हैं सब सुखी हैं मैं अकेला दुखी हूं उसने एक रात भगवान से प्रार्थना की कि मैं इतना दुखी हूं मेरे पे नाराजगी क्या है और फिर मैं ज्यादा नहीं मानता मैं उतनी ही खुशी मानता हूं जितनी तूने दूसरों को दी है अगर ये भी ज्यादा है तो मैं किसी दूसरे से अपना दुख बदलने को राजी हूं मेरा दुख किसी और को दे दे किसी को भी इस गांव में किसी को भी मेरा दुख दे दे वो किसी का भी दुख में बदलने को राजी हूं लेकिन अब मेरा दुख का बोझ ढोना बहुत कठिन सो गया रोता हुआ आंख में आंसू थे रात उसने एक सपना देखा सपना देखा कि एक बड़ा भारी भवन है गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और हर आदमी अपने अपने दुख की गठरी अपने कंधे पर लेके चला आ रहा है आज उसने पहली दफे लोगों के दुख देखे बड़ी हैरानी मालूम पड़ी कोई भी गठरी अपने से छोटी ना दिखाई पड़ती थी इसके बाद आवाज सुनाई पड़ी कि सब अपनी गठरियां खूंटियों पर टांगते हैं दुखों की गठरियां फिर जिसको जो चुनना हो वो उसकी गठरी चुन ले दौड़ तो उसने अपनी गठरी टांगी उसने देखा कि सारे लोग दौड़ के टांग रहे हैं वो तो सोचता था बाकी लोग खुशी हैं लेकिन वो भी अपने दुख से छूटने को आतुल थे फिर दूसरी आवाज आई कि अब जिसको जिसकी गठरी चुननी हो वो चुन ले लेमन ने जब गठरी टंगी देखी तो वो भागा अपनी गठरी की तरफ कि अपनी वापस उठा ले कोई और ना उठा ले क्योंकि अपनी कम से कम पहचानने में दुख तो, तो है उसके भीतर जाने माने दूसरों की गठरियां भी बड़ी दिखाई पड़ती हैं और पता नहीं कैसे दुख हो जिनसे कोई पहचान भी नहीं और उसने बड़ी घबराहट में दौड़ के अपनी गठी उठा के चारों तरफ देखा देखा कि हर एक ने अपनी गठी उठा ली उसने पूछा बात क्या है उन्होंने कहा अपनी गठरी कम से कम जानी मानी पहचानी तो है सोचते थे हम भी कि दूसरों से दुख बदल ले लेकिन दूसरों के दुख कभी देखे ना थे दूसरों की हंसियां देखी थी जो झूठी थी और अपने दुख देखे थे जो सच्चे थे और दोनों की भी तुलना की थी इसलिए कठिनाई हो गई थी चारों तरफ हम दुख देखना चाहते हैं ताकि अपना दुख हल्का हो जाए बुराई देखना चाहते हैं ताकि अपनी बुराई हल्की हो जाए चारों तरफ कुरूपता देखना चाहते हैं ताकि अपनी कुरूपता अपनी अग्लीनेस दिखाई ना पड़े ताकि हम सुंदर स्वस्थ अच्छे मालूम पड़े आदमी सदा से ये करता रहा लेकिन नए युग में एक बात हुई है कि हमारे पास बुराई को देखने के साधन बहुत उपलब्ध हो गए हैं जो कभी भी न थे अखबार हैं रेडियो हैं सुबह से सारी दुनिया की बीमारियों की खबरें घर ले आते हैं आप सुबह से देखते हैं और कहते हैं दुनिया बहुत बुरी हो गई दुनिया ऐसी ही थी सिर्फ अखबार न थे जो खबर ले आते और लिखना पढ़ना इतना मुश्किल था कि अच्छी बातें ही नहीं लिखी जा पाती थी तो बुरी बातें लिखने के लिए तो उपाय न था इसलिए थोड़ी सी बातें जो लिखी जा सकती थी बचाई जा सकती थी वो हमारे पास आ गई हैं ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पुराने आदमी से मेरा कोई विरोध है ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि नए आदमी की बीमारी नए आदमी की ही बीमारी नहीं है आदमी की बीमारी है ये हम समझ पाए तब शायद रास्ता भी खोजा जा सके अगर हम रोज कहते हैं कि लोग अधार्मिक होते जा रहे हैं लोग कब धार्मिक थे कोई उल्लेख तो नहीं मिलता कि लोग कभी धार्मिक थे लाओस से, से पहले चीन में कोई 6000 वर्ष पुरानी किताब है उस किताब की भूमिका को मैं पढ़ता था तो मैं दंग रह गया वो भूमिका ऐसी जैसे आज के ही अखबार में एडिटोरियल लिखा हो उस भूमिका में लिखा है कि लोग भ्रष्ट हो गए हैं पापी हो गए हैं भ्रष्टाचारी हो गए हैं बुरे हो गए पहले के लोग बहुत धार्मिक थे आजकल के लोग बहुत अधार्मिक हो गए छह साल छह हजार साल पुरानी किताब भी ये लिखती है कि पहले के लोग अच्छे थे आज के लोग बुरे हो गए अब पूछना जरूरी है कि ये पहले के लोग फिर कब थे और अब तक दुनिया में एक भी किताब नहीं है जो ये कहती हो कि आज के लोग अच्छे एक भी किताब नहीं है सारे जगत में सब किताबें कहती हूं पहले के लोग अच्छे थे आज के लोग खराब हो गए एक किताब नहीं है जो ये कहती हो कि ये समय अच्छा है आनंद का है सब किताबें कहती हैं पहले के दिन बहुत अच्छे थे अब तो दिन बहुत बुरे हो गए हर बाप यही कहता है कि कहा वो बातें जो हमने देखी बेटा सुनता है बड़े होकर वो भी अपने बेटे से कहता है कि कहा वो बातें जो हमने देखी बेटा सुनता है वो भी अपने बेटों से कहता चला जाएगा कि कहा बातें जो हमने देखी ये बातें किसी ने कभी देखी थी ये दिन अच्छे कब थे ये दिन अच्छे कभी भी ना थे आदमी ऐसा ही था अधार्मिक ही था लेकिन एक फर्क पड़ा है और वो फर्क ये पड़ा है कि पुराना अधार्मिक आदमी भी धार्मिक होने का ढोंग कर लेता था नए आदमी को ढोंग करना मुश्किल हो गया ढोंग टूट गया है हिपोक्रेसी टूट गई पाखंड टूट गया पुराना आदमी तिलक लगा लेता चोटी बड़ी कर लेता समझता कि धार्मिक हो गया नए आदमी के समझ के बाहर है कि तिलक लगाने से चोटी बढ़ाने से धार्मिक कोई कैसे हो जाएगा और अगर पक्का भी पता चल जाए कि चोटी से कोई केमिकल परिवर्तन हो जाते हैं और तिलक लगाने से कोई आत्मा बदल जाती तो भी नया आदमी कहेगा कि इतना सस्ता परिवर्तन जो चोटी बढ़ाने से और तिलक लगाने से पैदा होता हो कुछ मतलब का नहीं मालूम पड़ता इतना सस्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है पुरानी दुनिया में धार्मिक होने के ढोंग खोजे थे वो सब टूट गए धर्म नहीं टूटा है धर्म कभी था ही नहीं कि टूट जाए हाँ धर्म के ढोंग थे वो सब टूट गए आज कोई मंदिर जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता तो हम सोचते हैं लोग बड़े अधार्मिक हो गए लेकिन जो लोग मंदिर जाते थे वो धार्मिक थे मंदिर जाने से धार्मिक होने का कोई संबंध है मंदिर जाने से धार्मिक होने का कोई भी संबंध नहीं है धार्मिक आदमी जहां भी हो वहीं मंदिर अनुभव करता है ऐसा तो हो सकता है कि धार्मिक आदमी जहां बैठे वहीं मंदिर अनुभव करे लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है कि धार्मिक आदमी मंदिर जाए मंदिर जाने से कोई संबंध धार्मिक होने का नहीं हो सकता है मंदिर आदमी के बनाए हुए हैं मूर्तियां आदमियों की निर्मित की गई वहां हम अपनी ही बनाई मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े अगर कहीं किसी ग्रह पर उपग्रह पर किसी चांद तारे पर जीवन होगा और वो हमें नीचे झांक के देखते होंगे तो बहुत हैरान होते होंगे घर में छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डियों के विवाह करते हैं तो बड़े बूढ़े हंसते और कहते हैं कि बच्चे फिर बड़े बूढ़े राम सीता का विवाह करते हुए देखे जाते हैं और बच्चे अगर हंस सकते हो तो हंस के कहें और कहें कि बूढ़े सठिया गए हैं दिमाग खराब हो गए धार्मिक होने से धार्मिक क्रांति से किसी के मंदिर जाने का किसी की मूर्ति की पूजा का कोई भी संबंध नहीं है लेकिन ये सारे पाखंड आज अचानक आके उखड़ गए हैं टूट गए हैं आज सब जगह दरारें पड़ गई हैं और तब हमें ऐसा लगता है कि लोग अधार्मिक हुए जा रहे हैं मेरी अपनी समझ और मेरी समझ यह है कि धर्म का पाखंड जिस दिन पूरी तरह टूट जाएगा उसी दिन आदमी के धार्मिक होने की पहली संभावना शुरू होगी क्योंकि जब तक हम धोखे में रहते हैं जब तक हम धोखे की बातें खड़ी कर लेते हैं तब तक बहुत कठिनाई है क्योंकि तब तक सत्य की खोज नहीं हो सकती धर्म क्या है इसकी खोज होनी कठिन हो गई क्योंकि हमने धर्म के नाम पर कुछ ऐसे काम इकट्ठे कर लिए जिनसे धर्म का कोई भी संबंध नहीं अब एक आदमी अगर बैठ के राम राम राम राम जपता रहे राम बड़ा प्यारा नाम है लेकिन जपने से कोई मतलब नहीं अभी मैं एक गांव में गया था तो वहां एक सज्जन कहना चाहिए मेरे हिसाब से तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ऐसे वो सज्जन हैं उन्होंने एक बड़ा काम किया है उन्होंने एक बड़ा पुस्तकालय बनाया है जिसमें हजारों किताबों में सिर्फ राम राम राम राम लिखवा के रखवा दिया वहां दस पचास लोग दिन भर सुबह से शाम तक राम राम लिखने का काम कर रहे हैं उनके वो कई अरब नाम उन्होंने लिखवा के वो लाइब्रेरी बड़ी होती चली जाती हिंदुस्तान भर में कई स्त्रियां पुरुष घरों में बैठे राम राम लिख के वहां पोथियां बेचते रहते हैं वो उनको इकट्ठा करते जाते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आप देखने चलिए आप बड़े प्रसन्न होंगे मैंने कहा मैं प्रसन्न नहीं होगा मैं एकदम दुखी हो जाऊंगा उन्होंने कहा क्यों अरबों खरबों राम नाम लिखवा कर रख लिए मैंने कहा तुम कितने ही लिखवा कर रख लो सिर्फ बच्चों के काम में जो कापियां आ सकती थी वो तुम खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे और अगर कहीं राम होगा तुम तो मरने के बाद मिल गए तो वो भी तुमसे कहेगा कि तुमने बहुत अपराध किया जब बच्चों के पास किताबें न थी पढ़ने को तब तुमने ये कापियां खराब क्यों की और राम राम लिखने से कितनी ही बार लिखने से क्या हो सकता है लेकिन नहीं पहले वो आदमी धार्मिक समझा जाता है अभी भी समझा जा रहा है लेकिन 20 साल बाद बहुत मुश्किल है ऐसा आदमी अगर हमें मिलेगा तो अपराधी हो जाएगा 20 साल बाद क्रिमिनल एक्ट और 50 साल बाद अगर हम इस आदमी को मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए ले जाएं तो हैरानी नहीं होगी कि इसका दिमाग खराब हो गया ये किताबें खराब करता है और राम राम लिखता चला जाता है राम बड़ा प्यारा नाम है लेकिन किताबों पर गूदने से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता लेकिन हमें धार्मिक दिखाई पड़ रहा है एक आदमी माला फेर रहा है बैठ के घंटे तक तो हमें धार्मिक मालूम होता है क्योंकि हमारे दिमाग में ये ख्याल है कि ये माला की गुरिये फेरना एक धार्मिक कृत्य है लेकिन धर्म से और किसी माला की गुरिये फेरने से कोई भी तो संबंध नहीं है तिब्बत नाम से ज्यादा होशियार लोग उन्होंने प्रेयर व्हील बना लिया है वो माला फेरते नहीं 108 स्पोक लगा दिए हैं एक चके में चक्के जैसा चक्का बना लिया है एक एक स्पोक को उन्होंने मंत्र लिख दिया है और एक चक्कर धक्का मार देते हैं वो अपना दस पांच चक्कर लगा लेता है जितने चक्कर लग जाते हैं उतने उन्हें 108 मंत्रों का लाभ उन्हें मिल जाता है तो दुकान पर बैठे माला अलग से फेरने के लिए समय भी नहीं निकालना पड़ता आदमी की कमी मैस चालाकी की भी सीमाएं नहीं दुकान पर अपना काम कर रहे हो तो मौका मिला धक्का उसमें मार दिया एक लामा मुझे मिल रहा था तो मैंने कहा कि तुम बड़े पागल हो प्लग लगा के बिजली में लगा दो अब तुम्हें धक्का मारने की जरूरत नहीं वो चलते ही रहेगा लेकिन इससे कोई धार्मिक हो जाएगा धार्मिक होना एक बड़ी क्रांति है पूरे जीवन की आमूल चेतना की लेकिन इन कृत्यों से धार्मिक होने का कोई भी संबंध नहीं पर यह आदमी धार्मिक अब तक था तो एक भ्रम था कि दुनिया धार्मिक है लेकिन अगर हम लौट कर देखें अगर दुनिया धार्मिक थी तो तीन हजार साल में पंद्रह हजार युद्ध कैसे हुए तीन हजार साल में पंद्रह हजार युद्धों की कथा है इतनी हत्याएं इतनी लूट इतनी खसोट की जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है ये पुरानी दुनिया धार्मिक थी तो फिर ये सब कैसे हुआ ये पुरानी दुनिया अगर धार्मिक थी तो इस धार्मिक दुनिया से ये अधार्मिक दुनिया पैदा कैसे हो गई ये भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि बेटे आसमान से पैदा नहीं होते मां बाप से पैदा होते और बेटे जो कुछ लाते हैं वो मां बाप में अगर छिपा ना रहा हो तो नहीं ला सकते उपाय नहीं लाने का फल से हम वृक्ष की पहचान कर लेते हैं आज की दुनिया सारे आज तक के इतिहास की पहचान है वो खबर देती है कहां से ये दुनिया आई ये आसमान से नहीं उतर आते हैं लोग लेकिन एक फर्क पड़ा है और वो फर्क ये नहीं है कि धर्म नष्ट हो गया धर्म था ही नहीं कुछ थोड़े से लोग दुनिया में धार्मिक हुए हैं मनुष्यता अब तक धार्मिक नहीं हो पाई समाज अब तक धार्मिक नहीं हो पाया है तो धर्म के टूटने का तो डर ही नहीं है हाँ लेकिन धर्म के नाम पर एक पाखंड था एक हिपोक्रेसी थी एक बहुत बड़ा धोखे का जाल था जो सारी दुनिया में फैला हुआ था वो जाल धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया वो जगह जगह से टूट गया वो जगह जगह से छेद पड़ गए उसमें टूट जाने के कारण एक ऐसी बात प्रतीत होने लगी है कि दुनिया अधार्मिक हो गई नहीं ऐसा नहीं हुआ बल्कि मेरी अपनी दृष्टि में हमारा ये जो बोध है कि हम अधार्मिक हैं ये बोध बहुत कीमती है धार्मिक होने के लिए बहुत मूल्यवान है अगर किसी आदमी को स्वस्थ होना हो तो उसे ये पता चलना बहुत जरूरी है कि वो बीमार अगर बीमार किसी तरह के सपने में जीता हो और समझता हो कि मैं स्वस्थ हूं तब फिर बहुत कठिनाई है लेकिन बीमार को पता चल जाए कि मैं बीमार हूं तो फिर बीमारी से लड़ना पड़ेगा बीमारी तोड़नी पड़ेगी बदलनी पड़ेगी मेरी दृष्टि में इस बीसवीं सदी में आके एक बहुत फेनोमिनल एक बहुत कीमती घटना घटी है और वो ये कि हम आदमी की असली तस्वीर को पहली दफे पूरी तरह देखने में समर्थ हो पा रहे हैं नहीं तो आदमी ने अपनी तस्वीर में बहुत तरह के ढोल रच रखे थे और उनसे कभी पता नहीं चलता था कि वह आदमी कैसा है उस ढोल के कारण दिखाई ही नहीं पड़ता था असली आदमी की खबर ही हमें नहीं मिल पाती खुद को भी खबर नहीं मिलती थी कि असली आदमी क्या अगर मुझे सन्यासी होना होता पुरानी दुनिया में तो काफी था कि मैं गिरुए कपड़े पहन लू और सन्यासी हो जाऊं आज भी कुछ लोग सिर्फ गिरुए कपड़े पहनकर सन्यासी हो रहे हैं हिंदुस्तान में 50 लाख से ऊपर सन्यासी हैं जिस देश में 50 लाख सन्यासी हो उस देश की जिंदगी कुछ और होनी चाहिए सुगंध कुछ और होनी चाहिए लेकिन आज हिंदुस्तान से ज्यादा बेईमान हिंदुस्तान से ज्यादा पतित हिंदुस्तान से ज्यादा परेशान पृथ्वी पर कोई मुल्क नहीं पचास हजार सन्यासियों की मौजूदगी इस मुल्क को तो जैसे पारस सोना बना दे लोहे को ऐसा पचास हजार सन्यासी जिस देश में हो उस देश की तो जिंदगी और हो जानी चाहिए सुगंध और चमक आ जानी चाहिए लेकिन वो नहीं आ रही उसका कारण है कि जिसे हम सन्यासी कहते हैं वो पुराना ढोंग है वो सिर्फ कपड़े बदलने का नाम है वो सिर्फ तोता जैसी रटी हुई पुरानी बातों को दोहरा देने का काम है वो सिर्फ आरोपित इम्पोस्ट ऊपर से थोपा गया सन्यास वो सन्यासी बना हुआ है बना हुआ का मतलब उसने कोशिश कर करके वो सन्यासी हो गया है अब कोई आदमी दुनिया में कोशिश कर करके सन्यासी हो सकता है और अगर हो जाएगा तो सिर्फ अभिनय कर सकता है मैं एक गांव के पास से गुजरता था एक मेरे मित्र उस जंगल में जाकर रहने लगे थे तो मैं करीब से गुजरता था, था उनका झोपड़ा पड़ता था मैंने कहा जाकर देखा हूं गाड़ी रोक कर मैं उतर के गया वे एक पहाड़ी एकांत में सन्यासी होकर रह रहे थे खिड़की से मैंने देखा कि वो नंगे भीतर टहल रहे हैं वस्त्र नहीं पहने हुए हैं फिर मैं दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाया वो आया तो चादर लपेट कर आए तो मैंने उनसे पूछा कि जहां तक मुझसे गलती नहीं हुई है तो खिड़की से आप मुझे दिखाई पड़े कि नग्न है उन्होंने कहा मैं नंगे रहने का अभ्यास कर रहा हूं मैंने कहा अभ्यास नंगे रहने का सुना है कि महावीर ने कभी नंगे रहने का अभ्यास किया हो चित्त सरल हो गया था कपड़े गिर गए थे पता नहीं चला कि वो कब नंगे हो गए अगर पता चला हो तो नंगापन झूठा हो जाएगा एक चित्त की सरलता है कि शरीर में फिर छिपाने को कुछ नहीं मालूम पड़ा होगा कपड़े गिर गए होंगे ये तो समझ में आ सकता है लेकिन एक आदमी अभ्यास कर रहा है नंगे होने का तो मैंने उनसे कहा सन्यासी होना है कि किसी सर्कस में भर्ती होना अभ्यास हो जाएगा और बड़ा खतरा यही है कि सफल हो जाओगे उन्होंने कहा कि पहले दो चार मित्रों के पास नंगा पहुंचूंगा फिर थोड़े छोटे गांव में फिर बड़ी राजधानी धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा अभ्यास तो हो ही जाएगा अभ्यास तो कुछ भी हो सकता है नंगे रहने का भी अभ्यास हो सकता है लेकिन उस नग्नता को उपलब्ध करना बात दूसरी है जो अभ्यास से नहीं निर्दोष होने से आती है इनोसेंट होने से आती है और ध्यान रहे कि इनोसेंट माइंड और कल्टीवेटेड माइंड निर्दोष चित्त और अभ्यासी चित्त बिल्कुल उल्टे होते हैं अभ्यासी चित्त बहुत जटिल होता है वो इंसान कर रहा है वो नंगे होने का इंतजाम कर रहा है वो निर्दोष नहीं हो रहा है नंगे होने का इंतजाम कर रहा है वो इंतजाम कर लेगा ऐसी क्या कठिनाई है आदमी नंगा हो सकता है लेकिन ऐसा जो एक पुराना जगत था जिसने सन्यास को धर्म को प्रार्थना को पूजा को सबको रिचुअल और क्रियाकांड में बदल दिया था वो टूट रहा है इससे डर नहीं जाने की जरूरत है कि आदमी आधार में खो गया है सिर्फ धर्म के नाम पर जिसे हम धर्म कहते थे वो पाखंड टूट रहा है एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करूं मैंने सुना है एक रात एक पति घर वापस लौटा वो थका मांदा है वो बिस्तर पर लेट गया है उसने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी पानी ले आ मुझे बहुत जोर से नींद आती है पत्नी पानी लेने गई है वो जब लेट लौटी तब तक पति सो ही गया है तो उस पत्नी ने ये सोचा कि नींद तो लग गई है अब नींद तोड़ू वो भी ठीक नहीं और प्यास तो लगी थी तो अगर मैं पानी रख के सो जाऊं तो नींद खुले तो प्यास तब तक और भी बढ़ गई होगी तो वो पानी का बर्तन लिए चुपचाप रात भर उसके बिस्तर के करीब खड़ी रही पता नहीं कब नींद टूट जाए और पता नहीं कब पानी का ख्याल आ जाए और मैं सो जाऊं कोई सुबह बोर होते होते पति की नींद खुली तो वो बहुत हैरान हुआ उसने कहा कि तू ये बर्तन लिए यहाँ क्यों खड़ी उसने कहा कि मैंने सोचा कि नींद तोड़ू वो भी ठीक नहीं और आप प्यासे हैं और मैं सो जाऊं और हो सकता है कि मुझे नींद न तोड़े मेरी इस कारण आप प्यासे ही पड़े रहे इसलिए मैं रात यहीं खड़ी रही ये आसपास खबर पहुंच गई गांव के सम्राट तक खबर पहुंच गई गांव का सम्राट उस स्त्री को दर्शन करने आया सच में ऐसी स्त्री दर्शन के योग है वैसे ऐसी स्त्री मिलना थोड़ा मुश्किल है सम्राट जब उसके दर्शन करने आया और बहुत से हीरे जवारात भेंट करने आया उसने कहा कि ऐसी स्त्री भी इस राज्य में मैं धन्य भागी हुआ पड़ोस की स्त्रियों को आग लग गई स्त्रियों को काम ही नहीं है सिवाय इसके कि एक दूसरी स्त्री के प्रति उनको आग लगती रहे तब तक आग फैल गई उस ने का इसमें बात ही क्या खास है कल हम ही करके दिखा देंगे इसमें ऐसी बात कौन सी खास है पड़ोस में एक स्त्री जिसने कहा कि तो हद हो गई इतनी सी बात के लिए इतने हीरे जवारात इतना शोरगुल इतनी फूल मालाएं गांव भर में ये चर्चा और ये देवी बना देना इसमें रखा क्या ये तो हम ही कर सकते उसने अपने पति से कहा कि ध्यान रखो आज जब लौट के आओ तो थके मांदे लौटना आगे से ही बिस्तर पर लेट जाना और कहना कि प्यास लगी मैं पानी लेके आऊं तब ध्यान रहे सो जाना जागे मत रहना और मैं रात भर खड़ी रहूंगी इसमें बात ही क्या है सुबह आंख खुले तब पूछना कि अरे तू रात भर खड़ी रही तब मैं वही उत्तर दूंगी जो कि दिया हुआ है और तब गांव भर में खबर फैला देना सम्राट कल हमारे द्वार पर भी आए हुआ रिचुअल पूरा हो गया क्रियाकांड पूरा कर दिया गया पति थक के लौटा पति कुछ कर भी नहीं सकता पत्नी ने आज्ञा दी थी थक के लौटना पड़ा आके लेट गया उसने कहा बड़ी प्यास लगी और पूरे जो भी व्यवस्थित किया गया था नाटक वो खेला गया जब पत्नी पति सो गया तो पत्नी ने सोचा कि अब कोई देख भी तो नहीं रहा रात भर खड़े रहने का मतलब क्या सुबह सुबह फिर खड़े हो जाएंगे स्वाभाविक था जिस तर्क से वो चल रही थी उसमें ये तर्क बिल्कुल ही संगत था अभी तो कोई देख भी नहीं रहा खबर तो सुबह उड़ानी है और पति को कह दिया सुबह तक आंख खोलना मत बीच में सुबह आंख खोल के पूछना कि अरे तू अब तक खड़ी पत्नी सो गई है अब पति बार बार सुबह आंख खोल कर देख रहा वो भी सो रही तो बेचारा फिर आंख बंद कर लेता क्योंकि जब वो बदल लेके खड़ी हो जाए तब वो पूछे कि अरे तू खड़ी है क्योंकि इसके आगे पूरी कथा चले वो डायलॉग तो सब तर्क थे वो कथा भी चल गई उन्होंने आसपास खबर भी पहुंचा दी लेकिन ना सम्राट आया ना गांव से कोई खबर आई उस स्त्री ने कहा कि बड़ी जाति मालूम हो रही है बड़ा अन्याय मालूम हो रहा है जो किया गया है वही यहां भी किया गया है वो सम्राट के पास गई और उसने कहा अन्याय हो रहा है एक के साथ ये हमारे साथ ये व्यवहार तो सम्राट ने कहा पागल कुछ चीजें हैं जो होती हैं की नहीं जाती हैं हो जाए तो उनमें फूलों की सुगंध होती है की जाए तो कागज के फूल रह जाते धर्म कुछ ऐसी चीज नहीं है कि की जा सके होने वाली बात है घटना है जो घटती है हम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं हम तैयारी कर सकते हैं हम रो सकते हैं हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो घट जाए लेकिन हमने एक क्रियाकांड बनाया है जिसमें हम धर्म कर रहे हैं हमने धर्म को एक क्रिया बनाई है जबकि धर्म एक क्रिया नहीं है धर्म एक अनुभव है जो घट सकता है जैसे प्रेम एक अनुभव है प्रेम घट सकता है किया नहीं जा सकता है और किया जाए तो झूठा होगा इसलिए जो लोग प्रेम करने की आदत में पड़ जाते हैं वो फिर कभी प्रेम कर ही नहीं पाते क्योंकि वो घटना कभी घटती ही नहीं घटना तो उन्हीं को घट सकती है जिन्होंने कभी प्रेम करने के लिए सोचा ही नहीं तो घटना घट सकती है लेकिन जिन्होंने प्रेम करना सीख लिया इसलिए जो लोग प्रेम का धंधा करते हैं जैसे अभिनेता है वो बेचारे कभी प्रेम नहीं कर पाते दिन रात प्रेम का धंधा करते हैं दिन रात अभिनय करते हैं जब वो अपनी प्रेसी या प्रेमी के पास होते हैं तब भी वो वही बोलते हैं जो उन्होंने पर्दे पर बोला था वो भीतर से कुछ आ नहीं सकता क्योंकि अभ्यास मजबूत हो जाता है धर्म को हमने अभ्यास बनाया था अतीत युगों में धर्म को अभ्यास नहीं बनाया जा सकता धर्म प्रेम की तरह की घटना है इसलिए मैं कहता हूं धर्म प्रेम है और जो प्रेम के राज को समझ लेता है वही केवल धर्म के राज को समझ सकता है और जीसस का ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है जहां उन्होंने कहा है लव इज गॉड जहां उन्होंने कहा है प्रेम ही प्रभु है असल में प्रेम ही प्रभु है इसका मतलब है कि प्रेम के घटने की जो मार्ग है धर्म के घटने का भी वही मार्ग है मैंने सुना है कि रामानुज एक गांव में ठहरे और एक आदमी आया और उस आदमी ने रामानुज के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि मुझे भगवान से मिलना है मुझे कोई रास्ता बता दो रामानुज ने कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया उस आदमी ने कहा मैं इस झंझट में कभी नहीं पड़ा आप मुझे भगवान से मिला दो रामानुज ने कहा कभी तो किसी को किया ही होगा उसने कहा आप भी कहा कि सांसारिक बातें कर रहे हैं मुझे भगवान से मिलना है रामानुज ने कहा कि फिर एक दफे तुझसे पूछता हूं कभी किसी को भी तूने प्रेम किया होगा उस आदमी ने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं इस झंझट में मैं कभी पड़ी नहीं मुझे भगवान से मिलना है रास्ता क्या है रामानुज उदास हो गए उनकी आंखें बंद हो गई उस आदमी ने कहा बोले आप उदास क्यों रामानुज ने कहा अगर तूने किसी को प्रेम किया होता है तो मैं तुझे समझा सकता था कि धर्म क्या है लेकिन तेरे जीवन में प्रेम ही नहीं घटा तो तेरे जीवन में कोई तुलना ही नहीं कोई कंपैरिजन नहीं जिससे मैं तुझे समझा सकूं कि धर्म की घटना क्या है अगर तूने कभी तेरे हृदय का फूल किसी के प्रेम में खिला होता तो मैं तुझे समझा पाता कि धर्म का फूल कैसे खिलता है लेकिन वो नहीं घटा तो धर्म का फूल तेरी समझ के बाहर है तू जाओ प्रेम कर उस आदमी ने कहा आप कहां की बातें मुझे समझा रहे हैं मुझे भगवान से मिलना है मुझे प्रेम वगैरह नहीं करना है वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है वह आदमी बिल्कुल परंपरागत रूप से ठीक कह रहा है रामानुज गर्व बातें कह रहे हैं वह आदमी ठीक कह रहा है शास्त्र उससे मेल खाएंगे रामानुज से मेल नहीं खा पाएंगे लेकिन रामानुज ही ठीक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं तुझे समझाऊं क्या तेरे पास कोई अनुभव नहीं जो घटा हो तूने जिंदगी में सब कुछ किया है घटने वाला कोई अनुभव नहीं है सिर्फ एक अनुभव है प्रेम का जो घटता है और दूसरा अनुभव है धर्म का जो घटता है बाकी हम सब करते हैं पढ़ना हम करते हैं रोटी हम कमाते नौकरी हम करते हैं दुकान हम चलाते हैं जिंदगी में बाकी सब हम करते हैं घटता नहीं और अगर हमें न करना पड़े तो हम भी छोड़ देंगे अगर हमें रोटी बिना कमाए मिल जाए तो कोई कमाने नहीं जाएगा और अगर हमारा मकान बिना बनाए बन जाए तो कोई बनाने नहीं जाएगा मजबूरी है वो बिना किए नहीं होता इसलिए हम करते जिंदगी में प्रेम को छोड़कर सब कुछ कर्म क्रिया है प्रेम एक घटना है जो क्रिया नहीं है और दूसरी एक घटना है धर्म जो क्रिया नहीं है प्रेम दो व्यक्तियों के बीच घटता है और धर्म एक और समस्त के बीच घटता है प्रेम दो व्यक्तियों के बीच की घटना है ठीक वैसी ही घटना जब एक और समस्त के बीच घट जाती है एक और परमात्मा के बीच परमात्मा यानी समस्त वो जो सब है दी टोटलिटी जब एक और समस्त के बीच वही घटना घट जाती है जैसी प्रेम की दो व्यक्तियों के बीच घटती तब धर्म घटता है धर्म यानी अनंत हो गया प्रेम धर्म यानी विराट हो गया प्रेम धर्म यानी सरिता जैसे सागर हो गई और छोड़ ना रहे किनारे न रहे सब खो गया आनंद में लेकिन पुरानी सदियों ने धर्म को बनाया क्रिया और उसने नियमित व्यवस्था कर दी और ऐसी एपसेट व्यवस्था की इतनी अर्थहीन व्यवस्था की कि आज दुनिया के बड़े हुए विवेक और बुद्धि के सामने वो अर्थहीनता नहीं टिक पाती नई पीढ़ियां नए बच्चे अब पुराने ढंग से धार्मिक नहीं हो सकते इस शब्द को ठीक से समझ लिया जाना चाहिए कि ये असंभव ये अब संभव नहीं होगा अब तो धर्म को ही नए अभिभाव में प्रकट होना होगा उसे अब क्रिया की तरह नहीं रिचुअल क्रियाकांड की तरह नहीं उसे प्रेम की तरह घटना की भांति हृदय के खिले हुए फूल की भांति प्रकट होना होगा निश्चित ही कुछ और रास्ते से धर्म को सोचना जरूरी है नहीं तो नई पीढ़ियां अब भविष्य में धार्मिक ना हो सकेंगी और जितनी पुरानी पीढ़ी जोर देगी कि हमारा जो धर्म था वो बचाया जाए उतना ही जल्दी उसके धर्म को तोड़ने की व्यवस्था हो जाएगी जितना जोर दिया जाएगा कि बचाया जाए क्योंकि जितना वो जोर देंगे उतनी ही एब्सर्डिटी असंगति दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी अभी मैं एक घटना पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुआ और चिंतित भी हुआ पुणे के शंकराचार्य दिल्ली में ठहरे हुए थे एक आदमी उनसे मिलने आया और उस आदमी ने उनसे कहा कि हमारा एक छोटा सा समाज है वहां हम कभी कभी ब्रह्म की चर्चा करते हैं आप चले और ब्रह्म ज्ञान पर हमें कुछ समझाएं उन्होंने नीचे से ऊपर तक उसे देखा और कहा कि इन कपड़ों में और ब्रह्म ज्ञान वो बेचारा कोट पैंट पहने हुए टाई लगाए हुए शंकराचार्य ने कहा इन कपड़ों में और ब्रह्म ज्ञान होगा तो हमारे ऋषि मुनि पागल थे उन्होंने क्यों टाई और कोट पेन पतलून पहन लिया वह आदमी गबड़ा गया होगा दस पांच ना समझ जो वहां बैठे होंगे जो कि हर जगह महात्माओं को घेरे बैठे रहते अब वो बैठे होंगे हम सब हंसने लगे होंगे उनके हंसने से वो आदमी और बेचारा हतप्रभ हो गया परेशान हो गया उसने कहा माफ करिए कपड़े तो मैं ये मगर कपड़ों से क्या है उन्होंने कहा कपड़ों से क्या है कपड़ों से सब कुछ जने भीतर या नहीं नहीं था तब तो वो आदमी अपराधी हो गया कहा टोपी निकालो छोटी है भीतर या नहीं नहीं थी तब तो उन्होंने हद नासमझी की बातें कही जो शंकराचार्य की हैसियत का व्यक्ति कहे तो सारी पृथ्वी पर हमारा अपमान होता है उन्होंने उस आदमी से कहा पेशाब खड़े होकर करते हो कि बैठ के अब ये सोचने जैसा है कि जैसे पेशाब करने के ढंग से भी ब्रह्म के मिलने का कोई संबंध है ये बातें आने वाले भविष्य में मूर्खतापूर्ण हो जाएंगी हो गई लेकिन कभी ये बड़ी अर्थपूर्ण थी अर्थपूर्ण इसलिए नहीं थी कि अर्थपूर्ण है अर्थपूर्ण इसलिए थी कि मनुष्य को सोचने से ही रोका गया मनुष्य को सिखाया गया था विश्वास आस्था श्रद्धा सिखाया गया था जो कहा जाए उसे चुपचाप मान लेना उस पर शक ही मत करना और बचपन से जब यही बात समझाई जाती थी कि मान लेना मान लेना सोचना मत सोचना मत तो मनुष्य की सोचने की जो क्षमता है वो छीन हो गई थी असल में हमारी वे ही क्षमताएं विकसित होती हैं जिनका हम निरंतर उपयोग करते हैं अगर एक बच्चे को बचपन से ही चलने न दिया जाए तो वो बच्चा कभी भी चल नहीं पाएगा इसलिए नहीं कि उसके पास पैर न थे इसलिए भी नहीं कि उसे कोई भगवान ने कमजोर कर दिए थे बल्कि पैर भी तभी काम करते हैं जब उनका उपयोग किया जाए आप भी अगर दो साल पैर बांध के बैठ जाएं तो जिंदगी भर के चलने वाले पैर भी दो साल में घूमना के सिकुड़ जाएंगे और चलना बंद कर देंगे उनका उपयोग होना चाहिए पुरानी पूरी व्यवस्था विश्वास मान्यता बिलीफ पर खड़ी थी कि मान लो और बच्चों को बचपन से समझाया जा रहा था सोचना मत विचारना मत इसलिए कोई सोच नहीं रहा था इसलिए इस तरह की नासमझी की बातें अब तक समझदारी की मालूम पड़ी थी अब नहीं मालूम पड़ सकती क्योंकि दुनिया में एक नई घटना घट गई है वो नई घटना विज्ञान है और विज्ञान ने सारे चिंतन के आधार बदल दिए विज्ञान कहता है संदेह करना डाउट जो है वो आधार है विज्ञान कहता है जो संदेह नहीं करता वो वो आदमी आदमी ही नहीं है और धर्म अब तक का तथाकथित धर्म कहता था संदेह किया कि भटके और विज्ञान कहता है संदेह किया तो सत्य तक कभी पहुंचेंगे नहीं अब नई दुनिया विज्ञान के निकट आने के कारण रोज रोज संदेह करेगी और वो ये पूछेगी कि ये चोटी का होना ब्रह्म ज्ञान के लिए क्यों जरूरी है इसका क्या वैज्ञानिक संबंध है और इस नई पीढ़ियों को समझाने की चेष्टा और रोसब्जी की होगी अभी एक सज्जन ने किताब लिखी है उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हाँ चोटी वैज्ञानिक है और कारण उन्होंने बड़ा मजेदार दिया है कि बच्चे हंसेंगे और आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी कि क्या बातें करते थे लोग उसमें उन्होंने समझाया है कि चोटी बहुत वैज्ञानिक और कारण ये दिया है कि हमने बहुत पहले जो रहस्य खोज लिए थे वो विज्ञान ने अब खोजे और वो रहस्य ये था कि उसमें उन्होंने लिखा है कि बड़े मकानों पर देखा है लोहे की डंडी लगा देते हैं ऊपर ताकि बिजली गिरे तो डंडी से नीचे चली जाए मकान खराब ना वो चोटी जो थी उन्होंने बिजली को बचाने के लिए निकाली थी अब ये बातें और बातों को असंगत कर देंगी ये बचाने की नासमझ चेष्टाएं और जल्दी उस मकान को गिरा देंगी जो गिरने के करीब हो गया है अब बच्चे इस बात को सोच के हैरान हो जाएंगे कि चोटी जो है बांध के खड़ी रखने से ये ये बिजली के लिए शरीर से बाहर निकालने के लिए कंडक्टर का काम करने वाले अभी बच्चे ये कितने दिन तक हम ये बातें समझा सकते हैं असल में जो समझा रहे हैं वे धर्म के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम इनकी बातों के कारण डर है कि कहीं उनकी बातों के डूबने के साथ साथ मनुष्य के मन में धर्म की जिज्ञासा न डूब जाए खतरा यह है कि ये तथाकथित साधु संन्यासियों का निरंतर चलती हुई बातचीत के साथ कहीं ऐसा ना हो कि हम धर्म के प्रति ही विमुख हो जाएं, जिसके भी डर पैदा हो गए क्योंकि अगर ये सारी बातें बकवास है तो ऐसा भी मालूम पड़ सकता है कि धर्म में कहीं बकवास तो नहीं है और मैं आपसे कहना चाहूंगा धर्म ही जीवन में सारभूत है लेकिन क्रियाकांड से जुड़ा हुआ धर्म मर चुका है उसकी लाश को आगे नहीं खींचा जा सकता अब एक स्पॉन्टेनियस रिलीजन एक सहज स्फूर्त हार्दिक धर्म की दुनिया में जरूरत जो क्रियाकांड पर निर्भर नहीं जो मनुष्य के चेतन व्यवहार पर मनुष्य के मन के परिवर्तन पर जो मनुष्य के होने के ढंग पर करने के ढंग पर नहीं होने के ढंग पर निर्भर है तब जरूरी नहीं है कि बस आदमी धार्मिक आदमी हिंदू और मुसलमान हो क्योंकि हिंदू और मुसलमान रिचुअल के फर्क है एक आदमी इस तरह नमाज पढ़ता है तो मुसलमान है और इस तरह प्रार्थना करता है तो हिंदू अब तक क्रियाकांड के कारण ही दुनिया में इतने धर्म बन सके इस समय को तीन सौ धर्म है सारी पृथ्वी पर यह भी हंसने जैसी बात है विज्ञान तो एक है और धर्म तीन सौ है यह कैसे हो सकता है पानी हिंदुस्तान में गर्म करो तो 100 डिग्री पे गर्म होता है और तिब्बत में करो तो 100 डिग्री पर और इंग्लैंड में करो तो और पाकिस्तान में करो तो भी 100 डिग्री पर ही होता है कोई पाकिस्तान में मुसलमान मुल्क हो जाने से कोई डिग्री नहीं बदल जाती पानी एक ही नियम मानता है सारी जगत में आग एक नियम मानती है अणु एक नियम मानते हैं सारी प्रकृति एक नियम मानती है प्रकृति के नियम सार्वभौम यूनिवर्सल है तो चेतना के आत्मा के नियम अलग अलग कैसे हो सकते वे भी एक ही नियम मानते हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये नहीं पूछता कि टीबी आपको है तो आप हिंदू हैं या मुसलमान क्योंकि मुसलमान की टीबी को असल में इलाज और ढंग का होना चाहिए कुछ पाकिस्तानी ढंग का इलाज चाहिए हिंदू के लिए कुछ हिंदुस्तानी ढंग का इलाज चाहिए लेकिन टीबी के नियम एक वो टीबी के कीटाणु फिक्र नहीं करते कि हम मुसलमान के भीतर रह रहे हैं कि हिंदू के भीतर रह रहे हैं वो टीबी के कीटाणु एक ही नियम का पालन करते हैं वो टीबी के कीटाणु है उनको कुछ पता नहीं है अभी खून को निकाल के कोई नहीं बता सकता कि खून हिंदू का है कि मुसलमान का है हड्डियों के ऊपर से कुछ पता नहीं चलता कि हड्डी जैन की है कि बौद्ध की है कि ब्राह्मण की है कि शूद्र की है आदमी आदमी के बीच जो भेद था वो भी धर्म के कारण न था धर्म तो भेद पैदा कर ही नहीं सकता धर्म ही एकमात्र अभेद है वही एकमात्र अद्वैत है अगर कोई आदमी धार्मिक हो गया तो उसका मतलब यह है कि उसकी सब सीमाएं टूट गई वो सबके साथ एक हो गया अब उसके लिए कोई फासला न रहा कोई दुस, दुश्मन न रहा कोई पराया न रहा कहीं कोई सीमा न रही लेकिन अब तक जो धार्मिक आदमी था उसकी बड़ी सीमाएं थी और वो सीमाएं धर्म की ना थी वो भी क्रियाकांड की थी एक आदमी एक ढंग से प्रार्थना करता दूसरा आदमी दूसरे ढंग से एक आदमी भगवान का एक नाम लेता दूसरा दूसरा नाम लेता एक एक किताब को मानता दूसरा दूसरी किताब को मानता उसके कारण दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती और उस दीवार ने बहुत नुकसान पहुंचाया भविष्य में जो धर्म होगा वो हिंदू मुसलमान और ईसाई नहीं हो सकता वो सिर्फ धर्म होगा और ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि जिस दिन पृथ्वी पर सिर्फ धर्म होगा उसी दिन हम अधर्म से जीत सकते हैं उसके पहले नहीं जीत सकते जिस दिन पृथ्वी पर सिर्फ धर्म होगा उस दिन लड़ाई अधर्म से होगी जब तक पृथ्वी पर बहुत धर्म है तब तक धर्म और धर्म लड़ते हैं अधर्म से लड़ाई हो ही नहीं पाती हो भी नहीं सकती हिंदू मुसलमान से लड़े कि अधर्म से लड़े जैन हिंदू से लड़े कि अधर्म से लड़े दुनिया के सब धार्मिक आदमी दूसरे धार्मिक आदमियों से लड़ रहे हैं और अधर्म से किसी की कोई लड़ाई नहीं हो पाती हो ही नहीं सकती धार्मिक आपस में लड़के मिट जाते हैं और अधर्म फलता फूलता चला जाता है अधर्म बढ़ता है ये भी बड़े मजे की बात है कि अधर्म के खेमे नहीं है अधार्मिक आदमी सारी दुनिया में एक उसका कोई अलग अलग कई तरह के अधर्म नहीं है अधार्मिक आदमी नास्तिक बहुत तरह के नहीं है दुनिया में नास्तिकता एक है और आस्तिकता बहुत तरह की है धर्म बहुत तरह के ये हैरानी की बात है इससे उल्टा होता तो समझ में आ सकता था कि बहुत तरह के नास्तिक होते और आपस में लड़ते लेकिन बहुत तरह के आस्तिक और आपस में लड़ते हैं ये ठीक होता कि दुनिया के अधार्मिक आपस में लड़ते लेकिन अधार्मिक लड़ते ही नहीं धार्मिक लड़ते हैं आने वाला भविष्य एक ऐसे धर्म की तलाश कर रहा है रोज जो धार्मिकों को न लड़ाता हो बल्कि धर्म को अधर्म के सीधे एनकाउंटर में सीधे उसके सामने खड़ा आमने सामने खड़ा कर देता हो तो ही दुनिया से अधर्म मिट सकता है अब तक धर्म सीधा लड़ नहीं पा रहा अधर्म से चर्च मंदिर से लड़ता है तो अब अंधेरे के मकान से कौन लड़ेगा अंधेरे का मकान रोज बड़ा होता चला जाता अधर्म है था और डर है कि कहीं आगे भी ना बच जाए अगर हम धर्म की कोई नई व्याख्या नहीं खोज लेते हैं और धर्म की कोई नए आयाम नए डायमेंशन नहीं खोज लेते धर्म का कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं खोज लेते धर्म के क्रियाकांड से मुक्त करके धर्म की कोई हार्दिक मनोदशा नहीं खोज लेते हैं तो तो दुनिया में अधर्म बढ़ता चला जाएगा धर्म की फिर भी कोई मीनिंग नहीं मालूम पड़ती लेकिन खोजा जा सकता है और अब खोजना पड़ेगा क्योंकि पाखंड के कारण अब तक तो खोज संभव नहीं हो पाती थी वो पाखंड गिर रहा है और मैं मानता हूं आदमी धर्म के बिना नहीं जी सकता है लेकिन अगर धर्म का पाखंड भी उसके हाथ में हो तो वो सब्सिट्यूट से भी राजी हो जाता है वो उसी के साथ जी लेता है हमें पता भी नहीं चलता मैं एक कहानी मुझे याद आती है उससे अपनी बात पूरी करूं मैंने सुना है एक रात एक जंगल से दो सन्यासी जा रहे हैं भागते हुए अपने अपने जहां उन्हें ठहरना है जहां रुकना है वहां भागे चले जा रहे हैं बूढ़ा सन्यासी तेजी से भाग रहा है जवान सन्यासी बार बार कहता है कि इतनी जल्दी क्या है वो कहता है जल्दी है रास्ता अंधेरा है अमावस की रात है खतरा है वो जवान सन्यासी बहुत बार सोचता है कि सन्यासी को खतरा कैसा है असल में जिसने सारे खतरे स्वीकार कर लिए हैं वही तो सन्यासी है तो सन्यासी को खतरे का क्या मतलब जिसको खतरा है उसी को तो हम ग्रस्त कहते हैं असल में जो खतरे से डरा हुआ है वही ग्रस्त है ग्रस्त का मतलब यह है कि खतरे से बचने के लिए उसने घर बनाया है खतरे से बचने की तिजोड़ी रखी है खतरे से बचने के लिए इंतजाम किया है लेकिन सन्यासी वो है जिसने खतरे को स्वीकार कर लिया है उसके पास न घर है न दीवार है न तिजोड़ी यह आदमी डर क्यों रहा है फिर इस बूढ़े सन्यासी ने आज तक कभी कहा भी नहीं पहले आज ही क्या खतरा है फिर वे कुएं पर रुके हैं बूढ़े ने अपने झोले को जवान को दिया कहा मैं पानी खींच लू संभाल के रखना तब उसे ख्याल आया कि खतरा जरूर झोले के भीतर होना चाहिए उसने हाथ भीतर डाला तो दिख एक सोने की ईंट भीतर रखी हुई खतरा पकड़ में आ गया उसने वो ईट निकाल के बाहर फेंक दी और उतने ही वजन का पत्थर उठा के झोले के भीतर रख दिया सन्यासी बूढ़े ने जल्दी से हाथ मुंह धोया क्योंकि जिसकी झोली में सोने की ईंट हो वो हाथ मुंह भी ठीक से नहीं धो पाता 24 घंटे जल्दी क्योंकि वो फिक्र तो ईट की लगी हुई है वो सब काम करता है लेकिन फिक्र ईट की लगी रहती है वो भागा जल्दी झोला अपने हाथ में लिया टटोल के देखी ईट है कंधे पर टांगा वजन है दौड़ शुरू हो गई फिर रात अंधेरी होने लगी चाहे वो रास्ता भटक गए उसने दो मील चलने के बाद कहा क्या मामला है कोई रोशनी नहीं दिखाई पड़ती गांव का कुछ पता नहीं रात अंधेरी है और बड़ा खतरा है उस युवक ने कहा बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए खतरे को मैं दो मील पीछे फेंक आया हूं सुनकर क्या करते हो उसने घबरा के अंदर झोली मार डाला वहां तो पत्थर था सोने की ईट नहीं थी लेकिन दो मील तक पत्थर की ईट ने सोने की ईट का पूरा काम किया उसने कहा बड़ी अजीब बात है मैं दो घंटे तक पत्थर को कोई छीन न ले इससे डरा हुआ था तो फिर अब गांव जाने की क्या जरूरत है यहीं सो जाए बोलने का तो फिर यहीं सो जाए अब रात यहीं गुजार दें फिर सुबह चले चलेंगे अब कोई खतरा नहीं पत्थर की ईंट भी सोने की ईंट के भ्रम में दो घंटे तक खतरा दे सकती है एक घड़ी आई है मनुष्य जाति के जीवन में एक मेच्योरिटी की एक प्रौढ़ता की आदमी प्रौढ़ हुआ है कि हम जिसे अब तक धर्म की ईंट समझते थे वो पत्थर की ईंट साबित हुई अब कुछ लोग वो कहते हैं आंख बंद रखो और अभी भी सोने की ईंट माने चले जाओ लेकिन आंख अगर जबरदस्ती बंद रखो तो भी बीच बीच में खोल कर देखना पड़ता है और वो ईट सोने की नहीं है वो पत्थर की है और नए बच्चे तो कहते हैं कि आंख बंद क्यों रखें जब नहीं है सोने की तो नहीं है पत्थर की है तो ठीक है अब छोड़ो इसको अब इसकी फिक्र छोड़ो लेकिन कुछ लोग जो कहे चले जा रहे हैं कि नहीं ये सोने की है इसको बचाना जरूरी है क्योंकि हमारे बाप दादों ने इसे बचाया उन्होंने बचाया होगा उन्होंने गलती की और जितने जल्दी उस गलती को हम समझ लें उतना बेहतर है और अच्छा हो कि इस ईंट को तो हम फिक्र छोड़ दें लेकिन अब झोला खाली हो गया है और खाली झोला बहुत अखरेगा खाली आदमी बहुत अखरेगा पश्चिम में वो खालीपन एम्प्टीनेस बहुत जोर से मालूम पड़ रही है इस समय पश्चिम के सारे साहित्य में पश्चिम के सारे विचारकों में एक शब्द जो बहुत कीमती है वो एम्प्टीनेस खालीपन इस वक्त अगर दर्शन की कोई पश्चिम की किताब पढ़े तो उसमें परमात्मा की चर्चा नहीं होगी आत्मा की चर्चा नहीं एम्प्टीनेस की चर्चा होगी खालीपन आदमी खाली खाली मालूम पड़ रहा है एक कहीं खो गई है जिसे हमने समझा था कि सोने की थी वो पत्थर की हो गई है एक वर्ग है जो कहता है अब भी उसे सोने की माने चले जाओ ये कैसे हो सकता है दूसरा वर्ग है जो इसके खिलाफ कह रहा है कि ये भ्रम छोड़ो ईट मीट सोने की हो नहीं सकती सब ईटे पत्थर की इन दो के बीच एक लड़ाई चल रही एक है जो कह रहा है इसी को सोने की मानो नहीं तो खाली हो जाओगे दूसरा ये कह रहा है खालीपन आदमी की नियति है भाग्य कोई ईट है ही नहीं सोने की सब पत्थर की फेंको इसको खाली रह जाओ इन दो के बीच सारी दुनिया में कसम कस है मैं बिल्कुल तीसरे तरह का आदमी हूं जो ये कहना चाहता हूं वो ईट पत्थर की थी उसे फेंको लेकिन सोने की ईट भी हो सकती है खाली रहने की कोई जरूरत नहीं सोने की ईट खोजी जा सकती है प्रेम को मैं धर्म के लिए सोने की ईट कहता हूं आने वाले तीन दिनों में सांझ मैं प्रेम की चर्चा करूंगा कि वो सोने की ईंट कैसे खोजी जाए जिसकी वजह से हम खाली पड़ गए एकदम दीन और दरिद्र हो गए और सुबह ध्यान की चर्चा करूंगा क्योंकि ध्यान के द्वार से ही उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है जो प्रेम क्योंकि प्रेम कोई कृत्य नहीं है इसलिए प्रेम को हम कर नहीं सकते हैं लेकिन प्रेम घट सकता है जैसे कि मेरे घर बाहर सूरज निकला हुआ है मैंने द्वार बंद करके मैं भीतर बैठा हूं मैं सूरज की रोशनी को घर के भीतर नहीं ला सकता पोटली बांधू पेटी में बंद करूं तो पेटी आ जाएगी पोटली आ जाएगी रोशनी बाहर रह जाएगी रोशनी को घर के भीतर नहीं लाया जा सकता लेकिन मैं दरवाजा खोल सकता हूं और दरवाजा खोल के बैठ जाऊं तो रोशनी आ जाएगी ध्यान द्वार का खोलना है जिससे प्रेम की घटना भीतर आके घट सकती है तो जो लोग सब विचार करने में उत्सुक है वो सांझ के लिए निमंत्रित है लेकिन जो लोग प्रयोग करने में भी उत्सुक है कि कैसे वो प्रेम की अद्भुत घटना घट जाए जहां से हम परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो जाते हैं वे सुबह निमंत्रित है सुबह के लिए जो लोग आना चाहते हैं उनको दो तीन सूचनाएं मैं दे दूं फिर अपनी बात पूरी करूं पहली बात तो ये कि स्नान करके ही आए दूसरी बात यह ताजे कपड़े पहने और आने के घंटे भर पहले से चुप रहने की कोशिश करें बात मत करें घंटे भर पहले से एक आदमी को अपने घर के सामने साइकिल रोकनी हो तो आधा फरलांग दूर से पैदल बंद कर देता है आधा फरलांग तो साइकिल पुरानी गति से चल जाती है पैदल चलाने की जरूरत नहीं रहती और घर के सामने ही अगर आके एकदम से ब्रेक लगाया जाए तो खतरे का भी डर है और हमारे माइंड में ब्रेक नहीं है ये भी दिक्कत है वहां कोई ब्रेक नहीं है कि हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं हमारे माइंड की हमारे मन की जो व्यवस्था है वो बहुत धीमे धीमे चलती है अगर आपको क्रोध आ जाए तो घंटा दो घंटा उसको विसर्जित होने में लगते हैं यहां ध्यान की तैयारी करने के लिए घंटे भर पहले से यहां साढ़े आठ बजे ध्यान शुरू होगा आप साढ़े सात बजे से चुप हो जाएं बात ना करें बहुत जरूरी हो तो कुछ बोले नहीं तो ना बोले स्नान करें चुपचाप चले आए रास्ते में भी बात न करें यहां भी आके आप आठ बजे सवा आठ बजे जब आ जाएंगे ध्यान के स्थल पर तो चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाएं यहां कोई बात ना करें दरवाजे के भीतर प्रविष्ट होते से बात नहीं फिर दरवाजे के बाहर की दुनिया बाहर शुरू होगी दरवाजे के भीतर आप अलग दुनिया में चले गए चुपचाप आके बैठ जाएं फिर ध्यान कैसे करना है कैसे ध्यान में जाना है वो तो मैं सुबह बात करूंगा एक घंटा हम ध्यान में प्रवेश में जाएंगे वो एक घंटा आपके जीवन में एक अद्भुत घटना बन सकता है जिसका आपको पता भी ना हो कि क्या संभव हो सकता है बहुत खजाने हैं जिनकी तरफ हमने आंख उठा के नहीं देखा बहुत रोशनियां हैं जो हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हम पीठ किए खड़े बहुत फूल हैं जो खिले हैं और हमें बुला रहे हैं लेकिन हमारे पास सुगंध लेने की क्षमता नहीं बहुत वीणाएं हैं जो निमंत्रण दे रही हैं लेकिन हमारे पास वो कान नहीं कि उन्हें सुन सके ध्यान में उसकी खोज है जो इन वीणाओं को इन फूलों को इन रोशनियों की रिसेप्टिविटी ग्राहकता पैदा कर देती है तो जो प्रयोग में सुख हैं वो सुबह आ जाएं सांझ हम बात करेंगे और सुबह प्रयोग करेंगे मेरी बातों को